तुलसीदास जी ने पहले देखी विंशति त्रिंशत दशकाणी निराम कलम कल में बीस तीस वर्ष की गौरैया मानी जाएगा करो है उस समय धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतीर्ण होंगे साधुओं की रक्षा के लिए संबल ग्रामे संबल नाम के गांव देवदत्त नाम के अशुभ उद्धार करके वो दुष्टों का वध करेंगे सुखदेव जी कहते राजन देखो हमने तुमको तो कितनी तो राजाओं की कथा सुनाई हम्म? तेजे कथा वर्तमान रविशंत तो नृपास सोम सूर्य वंशा संक्षिप्त का कथा है ये संक्षिप्त हमने तुमको कथा सुनाई है काले गते सती ऐसे दिव्य सौ वर्ष सहस्र वर्ष जब बीत जाएंगे तो फिर कृत योग आ जाएगा सतयुग आ जाएगा राजन ये मेरा कृपा अमृता के सर्वे भूमि ममता कृपा नाश तुम्हें तो राजा लोग हुए हैं सब पृथ्वी में ममता करके ये मेरी ये मेरी वो मेरी तो पृथ्वी में मिल गए दृष्टात्मन गए विग्रहण नृपान हसत भूमियम पृथ्वी के लिए आपस में जब लोग लड़ते हैं तो पृथ्वी हंसती है सीमा के चल रहे हैं निर्णय नहीं हो पाते तो कहते हमारी यहां तक सीमा कहते हमारी यहां तक सीमा पृथ्वी तो माता कहती है ये मेरे लिए लड़ रहे हैं और मेरे जीतने के लिए लड़ते हैं और लड़ भड़ करके मर के मेरे नहीं मिल जाते पृथ्वी नहीं कोई तो जाग दिए जाते हैं कोई भस्मी होकर के कुछ तो भी मिल जाता ये न प्रेमोपमय पिंडे ये थे का उस नश्वर शरीर में इतना विश्वास करके पृथ्वी के लिए लड़ते हैं याम विसृजयी व बनवास रूप पूर्व जिस पृथ्वी को छोड़ करके मनु चल गए चले गए मनु के पुत्र चले गए उनके लिए माता पिता लड़के लड़के हैं पिता हैं माता हैं आपस में लड़के मत करते पितृपुत्राण बाप बेटा लड़ते हैं तो जन्म पृथ्वी के लिए मई गयम मई पृथ्वी तो मेरी है यहां तक आपस में झगड़ते हैं प्रथम पूर्वा गादी नहुष भरत अर्जुन मानदाता भगत ये सब पृथ्वी के लिए रहते हिरण्य कशपू और रावण मुंशी शंबर और हिरण्याक्ष ये सब बड़े बड़े बलवान थे सूरवीर थे और मेरे में ममता करके अब कथावशेष रह गए कथाओं में उनकी बात सुन लो लड़गे तो पता ही नहीं कहा और पृथ्वी के लिए लड़ गए कथा विमास्ते कथिता यथाम पिता लोकेशु यशपरेशाम विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वचोकेणतदारलाख्यम सुखदेव जी कहते इतने राजा महाराजाओं की जो हमने तुम्हें कथा सुनाई है वो अपना यश का विस्तार करके पर्वत को चले गए इस कथा का सुनाने का तात्पर्य क्या है कि इन कथाओं को सुन के ज्ञान वैराग्य जागृत हो लोगों को वैराग्य हो विज्ञान हो मैं कथा सुनाने में क्या तात्पर्य क्यों सुना रहे बीच हुई कथा अरे ऐसे ऐसे महापुरुष हुए वो भी इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए परीक्षे बोले महाराज कलयुग के दोषों को किस उपाय से करा जा सकता है वो बताओ सुखदेव जी बोले स्वतंत्रता प्रवर्तते होता है परीक्षित कलयुग में धर्म चार अवसर होते हैं सत्यम दया तप और दान सत्य तप और दया दान ये चार अवसर सत्युग में पूर्ण रूप से धर्म रहता है संतुष्टा करुणामयिता शांता कांता स्मतिक्षव आत्मा रामा संरक्षा प्रायश शरणा वो सती में ऐसे लोग रहते हैं शाम त्रेता में धर्म का साधारण तुरियांश एक आनंद हिंसा असंतोष द्वेष अधर्म के भयों से समेत दिए थे एक पाप वह हो हो है तो उस समय भी यज्ञादि करने वाले तपोनिष्ठ लोग ब्राह्मण अधिक रहते हैं प्रजा में ऐसे द्वापर में हिंसा अनर्थ असंतोष से दो ग्रह नष्ट हो जाते हैं करने तो उस समय लोग यशस्वी होते हैं वेदाध्ययन करते हैं क्षत्रिय और ब्राह्मणों की प्रधानता रहती है कलयुग में धर्म के तीन ग्रह टूट गए एक महीने बाद वो भी कमजोर हो जाता है उस समय लोभी लोग हो जाते हैं दुराचारी होते हैं निर्दयी व्यर्थ व्यय करने वाले होते हैं भाग्यहीन होते हैं तृष्णा की बहुत होती है ऐसे इंद्रिया सप्तगुण थे आप देखो जिस समय हमारा मन बुद्धि शांत हो सतोगुण वर्ग में वक्त रहे हो तप में भजन में रुचि हो उस समय समझ लो उस समय सती हुई है जब काम कर्म में रुचि हो और रजोगुण की वृद्धि हो उस समय समझो अब हमारे सामने श्रेष्ठ कारोबार है जब मन में लोभ आ रहा हो संतोष आ रहा हो काम में करने में प्रीति हो हाँ, रज और तमोहों की प्रधानता हो मन में तो समझो कि द्वापर है तो जिस समय मन में माया अंगित झूठ आला समुद्रा हिंसा की बात काम है वह समझ लो कि तमोगुण का तो व्याप्त एक कर लेते क्षुद्रवाक्या मंदमतयो बवारा आहारा कल दोषानाह कलयुग में ये बड़े दोष हो जाएंगे मंदमती होंगे चोर अधिक हो जाएंगे पाखंडी हो जाएंगे प्रजा का शोषण करने वाले राजा होंगे स्त्रियों के शरीर छोटे छोटे होंगे स्त्रियों लव देहा छोटी कद वाली स्त्रियां हो जाएंगी खाएंगी बहुत बच्चे बहुत पैदा होंगे नृत्या निर्द्य निर्दृत्यम पति चक्षण थी नौकर जो है अपने इस ग्रामीण का प्रत्याग कर देंगे पानी भी जब जाना हमारे नौकर के कुछ स्थायी रोग हो गया है उसे छोड़ देंगे लोग झाड़ू दोहा गऊ का दूध दे लिया तो वो गऊ वाला गऊ को छोड़ देगा पुत्र जो है वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करेंगे ये राजन फलौ पाषंड भिन्न चेतसो मनुष्य बहुधा जगतुर्म अत्युत्तम थी पाखंडी लोग हो जाएंगे भगवान का भजन नहीं करेंगे कलयुग के दोषों को कैसे जीता जाएगा कि मनुष्यों के हृदय में भगवान आकर के कलयुग के दोषों को नष्ट करेंगे जो प्रेम से भगवान का चिंतन करेंगे कीर्तन करेंगे श्रवण करेंगे वो कलेर के दोषों को नष्ट कर श्रोता पूज्य तो ध्याता पूजता आदृतो हुआ भगवान मृणाम जन्माय संपापम दूरी श्रुता संकीर्त तो ध्याता पूजितश्चादृतो हुआ मृणाम भूत भगवान हतस्थो जन्माय शुभम बाहर को अपने में लीन करके सो जाते हैं जब जी की रात्रि आती है तब प्राकृत लय जब प्रकृति में लय होता है उस समय उस समय संपूर्ण कार्य कारण में लय होता है महद अहंकार पंचमात्रा रूप सत्य प्रकृति प्रलयाय कल्पते एक देश प्राकृत लय जहां को सारा लीन हो जाता सौ वर्ष तक वर्षा नहीं होती प्रजा दुखी हो जाती है फिर भगवान शंकर से थके भूमि से अग्नि निकलती है ब्रह्मांड जो है तब तो वो पिंडवत हो जाता है वायु चलती है ऐसे फिर वर्षितम वर्षंती तथो एकादशम ब्रह्मांड एकोदकम ब्रह्मांडम भवत फिर गुंगे गंधम गुण महापो गति नष्ट गंदा भू भू नश्य तेज जो है तथा तेजो अपाम रसम दृश्य ऐसे कार्य कारण में लीन होते हुए साफ प्रकृति में लीन हो जाता महत्व भी तब आद्यम महान अज्ञम बदल तो केवल महत्व अहंकार ग्रसते महत्व गुणा ग्रसते गुणान प्रधान तत्व ग्रसते स्वाप प्रधान में लेते सही प्रकृति प्रधान का यह कहा होता है कि प्रधान तत्व से तू लयो नास्ती प्रधान का प्रकृति का लय नहीं होता तम आद्यंत हीनम बदलती आद्यंत से ही वो तो अव्यय है तो उसका लय नहीं होता इस प्राकृत तो लया ये यत्र सर्वशक्त है आपके सारी शक्तियां लीन हो जाती हैं आत्यंतिक प्रलय क्या है अरे वो तो ज्ञान से ही होता है आत्यंतिक प्रलय कहते हैं मोक्ष को ब्रह्म ज्ञाने न सर्वप्रपंचात्म को बुद्धिंद्रिया स्वरूप रूपेण तदाश्रयम ज्ञानम भाती दीपस्थक्षिष्टरूपं च ज्योतिषो न पृथक भवे एवं धीखानि मात्राश्च न स्युः जैसे दीपक और चक्षु और रूप तो ये अग्नि से पृथक नहीं है देखो जो नेत्र हैं वो अग्नि का इंद्री है तो रूप जो है वो अग्नि का गुण है हाँ। तो दीपक तो अग्नि है ही है और चक्षु अग्नि का इंद्रिय है रूप अग्नि का गुण है ये तीनों अग्नि से पृथक नहीं है इसी प्रकार बुद्धि इंद्रिया और ये मात्रा ये परमात्मा से पृथक नहीं है सत्य से नाना तुम यथा सुवर्णम यथा हिरण्यम् बहुधा संयते निर्भिव्यवहारवत्मसु एक ही सोना व्यवहार में अनेक नाम वाला होकर के घूमता है उसको अमीठी कहते हैं मुकुट कहते हैं कुंडल कहते हैं सोने के अनेक नाम हो सोना अपना अनेक नाम रख करके संसार में घूमता है एवं बचो वे भगवान धूक्षयो व्याख्या कई वेदिक जन इसी प्रकार जय यथा सुवर्णम व्यवहार मार्गेशु कटक कुंडलादि रूपेण प्रतीयते वैसे ही भगवान लौकिक वैदिक वाणी के द्वारा मनुष्यों के द्वारा व्याख्यान किए जाते हैं वो भी अनेक नामों से पुकारे जाते हैं यथा भनोर्प प्रभवोर्पदर्शितो दत्तांशभूत चक्षुषस्तम जैसे आकाश बादल जो है सूर्य से प्रकट होते हैं और सूर्य को ढक लेते हैं जब हम नेत्रों से सूर्य का दर्शन करना चाहते हैं तो बीच में बादल आ जाते हैं सूर्य का दर्शन हम नहीं कर पाते एवं तो हम ब्रह्म ब्रह्मांश ब्रह्मांशिक से आत्मन आत्मबंधु ऐसे ब्रह्म से उत्पन्न हुआ अहंकार और जीव और ब्रह्म के बीच में आ जाता है ब्रह्म का दर्शन नहीं होता होने देता यथा रहो का प्रभुर्थ विधि जब वायु से बादल पितर बितर हो जाते हैं तो हम नेत्रों से सूर्य का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं उसी प्रकार अहंकार से रहित जब जीव हो जाता है तो वो परमात्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है नित्यदा सर्वभुक्ता नाम ब्रह्मादीना परम तप तुपत्य प्रलयावे के सूक्ष्म व्यासम प्रचक्षते सुखदेव जी कहते हैं राजन संसार की प्रत्येक वस्तु का नित्य प्रलय होता रहता है नित्य बदलती रहती है परिवर्तन होता रहता है सर प्रत्येक वस्तु का उत्पत्ति प्रलय हर समय होती रहती है अथ नित्य प्रलय ना प्राकृत प्रलय बड़ा आपके के लिए ये सब बता करके अब नित्य प्रलय क्या है कि प्रतिक्षण जो सारे विश्व का परिवर्तन होता है ब्रह्मादि सर्वभूतानाम उत्पृत प्रलय नित्यम प्रत्यक्ष प्रत्यक्षति सूक्ष्मज्ञ लोग बुद्धिमान लोग इस बात को जान सकते हैं एक ही क्षण में सारा विश्व बदल जाता है प्रातः काल जो हम लोग बैठे थे वो अब नहीं है बदल गए हैं सब मालूम कहां होता है तो समझते यही वो समय बैठ चुका है वही अरे नहीं बदलते एक एक क्षण में बदल जाते अब तो कई घंटे हो अब एक एक क्षण में न बदले तो बताओ किस दिन बदलोगे छोटे थे बालक थे अब कितने बदल गए तो किसी एक तारीख को थोड़ी बदलते हैं किसी एक महीने में थोड़ी बदलते हैं वो तो धीरे धीरे हर समय बदलते रहते हैं हर समय बदलते हैं इसीलिए पता नहीं चलता प्रत्येक क्षण में बदलते रहते इसी बात को सुखदेव जी कहते हैं पर इस बात को सूक्ष्म लोग जानते दीपक की ज्योति हर समय बदलती रहती है तुम समझते हो वही ज्योति है तुम समझते हो वही गंगा की धारा बह रही है अरे वो और धारा आ गई है तो ये नित्यदा सर्वभूतानाम ब्रह्मादीनाम परंत तपो उत्पत्त प्रलयावे के सूक्ष्म व्यासन प्रकट है हितवास को सूक्ष्म के लोग जानते हैं एक एक क्षण में सब चीज बदल रही है कि मकान भी बदल गया लाउड स्पीकर भी बदल गया सब बदल गया सब चीज बदलती है परिवर्तन हो मालूम नहीं सर्वे भावा क्षण परिणाम नाम वितेचित शक्ति एक ऐसी शक्ति है चैतन्य शक्ति उसको कुछ कहो आत्मा कहो ब्रह्म कहो परमात्मा कहो बहुचित शक्ति जो है वो तो बदलती नहीं है और सब बदलता रहता है अगर सबके बदलने के साथ साथ वो भी बदल जाए तो इसको अनुभव कौन करेगा कि इतना बदल गया है वो भी बदल जाए तो कैसे पता चले वो बदल वो नहीं बदलती मोहम बाल्य पुत्र अनुभवम एक अस्सी वर्ष का बुढ़ा अपने पौत्र को गोद में लेकर के पर याद कर रहा है कि जब मैं छोटा बालक था अपनी बाबा की गोद में बैठता था और आज मैं स्वयं अपने पोत्र को गोद में लेकर बैठा तो कितना शरीर कितना बदल गया पहले वो स्वयं बालक था बाबा की गोद में बैठा था आज स्वयं बाबा है बालक को गोद में लिए बैठा था तो शरीर कितना बदल गया मन बदल गया इंद्रियां बदल गई पर जो मैं वो चैतन्य शक्ति आत्मा नहीं बदली वो कहता है कि जो मैं पहले बालक था बाबा की गोद में था अब वही मैं बाबा हूं नाती की गोद में ये बैठा बस न बदलने वाला वो रहा और शरीर के साथ अगर आत्मा भी बदल गया होता तो फिर ये बात कौन कहता स्मरण कौन करता फिर हम्म। ईश्वर मूर्तना कालीन जन्माद्यवस्था नैव दृश्यन्ते आकाशे गच्छतां चन्द्रादीना निर्वहति एवं नित्यो नैनित्य का प्राकृत का आत्यंत का चतुर्विधो लयस्ते कथता चार प्रकार का लय जो हमने दे नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक आत्यंतिक चार प्रकार का है हर समय जो परिवर्तन होता है नित्य प्रलय ब्रह्मा के सोने के बाद में प्रलय होता है नैमित है प्रकृति में सब प्रलय हो जाता है प्राकृतिक प्रलय ब्रह्म ज्ञान से जो संसार का लोक होता है वो आत्यंतिक प्रलय सुखदेव जी कहते हैं राजन ये संसार सागर है और ये दुष्कर है इसको पार करना कठिन है जब पार करना कठिन न होता तब तो तक हम लोग पार कर गए होते संसार सिंधु मत दुष्कर मुक्ति तीर्षो तब जो इसके पार जाना चाहता है तो एक नौका है इसके पार करने की तो एक ही नौका है और नहीं है कि नान्या और नहीं है संसार सिंधु मति दुस्तर मुक्ति नान्य प्लवो भगवता पुरुषोत्तम से लीला कथा रचन सेवन मंत्रेण भगवान की लीला कथा का सेवन करो भाई यही नौका है हाँ। भगवान की मंगलमय कथा का श्रवण करके इस संसार सागर को तुम पार कर सकते हो भव सागर चाह पार जो पावा और राम कथा ताकर दृढ़ नावा दृढ़ नौका है राम जी की कथा संसार सिंधु मति दुस्तर मुक्ति नान्य नान्यप्लवो भगवता पुरुषोत्तम से लीलाकथारसनिषेवनमन्तरेण पुंसो भवेद्विविधदुःखदवार्पितस्य Thank you. हमारे पिता व्यास जी को प्रेस का उपदेश दिया और हमारे पिता व्यास जी ने इसको हमको पढ़ाया सुखदेव जी कहते हैं वेद संहिताम प्रीतो मयम प्राप्त हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के ये श्रीमद भागवत का हमको पढ़ाया मयम प्राप्त और ताम संहिताम असौ सूतो नैमिषारण्य और ये सूत जी ने जो हमसे सुन लिया है परीक्षित को जब सुना रहे थे ना सुखदेव जी तो सूत जी इधर उधर घूम रहे इतने बड़े ऋषियों में साहस में पड़े कहां बैठ जा तो भगवान सुखदेव जी ने उनको अधिकारी समझ करके और चट से भी संकेत किया आओ हमारे पास बैठ और सुखदेव जी ने जब कह संकेत किया था उन्हें मैंने कौन करो तो अपने पास बैठा लिया और कहते जो हमसे जी ने सुना है ये सौनकादिक ऋषियों को सुनाएंगे ये सुखदेव जी कहते हैं अर्थान वर्णते भीषणम विश्वात्मा भगवान हरि ही देखो इस श्रीमद भागवत में श्री हरि का वर्णन आया है बारंबार बारंबार अनेक प्रकार से सगुण परमात्मा का निर्गुण परमात्मा का यश्य प्रसाद जो ब्रह्मा रुद्र क्रोध समुद्भव जिनसे भगवान शंकर और ब्रह्मा भी उत्पन्न हुए और सुखदेव जी कहते हैं राजन त्वंतु राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मिमाम जही अब ये पशुओं की सी जो बुद्धि है कि हम मर जाएंगे हम मर जाएंगे इस बात को बुद्धि से निकाल दो त्वंतु राजन थी पशु बुद्धि में मान दी तो पशुओं की जैसी बुद्धि है अरे मरती क्या चीज है मरती कोई वस्तु नहीं है विचार करके देखो तो न शरीर मरता है न आत्मा मरती है शरीर की केवल आकृति तो बदल जाती है अब पंचभूत शरीर की आकृति में है पर शरीर की आकृति में नहीं रहते पंचभूत पंचभूतों में मिल जाते हैं इनमें मरने वाली कौन चीज है मरता कुछ नहीं है मरने वाली कोई वस्तु नहीं है मरने का केवल वहम है अनादि परंपरा से चला आया है हम मर जाएंगे मर जाएंगे